साधन साध्य साधन અને સાધ્ય दोनों एक साधन और साध्य जहाँ एक हो जाता है हाँ साधन साध्य जुदा रहता ही नहीं कभी न तपस्या बनती न चारित्र बस, बनता बस, कुछ भी नहीं बनता कोई बात सब नहीं केवल चैतन्य अरे वहाँ तक जाने का है सबको एक जगह भी जाने का है हम्म। जैसे लास्ट स्टेशन इससे आगे कोई स्टेशन नहीं अक्रम विधि है आपकी अक्रम विधि हाँ। वो क्या है आपकी अक्रम विधि है वो क्या है उस अभी स्वामी का नाम मार्ग जो है वो धोरी मार्ग है हम्म। राजमार्ग है हम्म। वही सच्चा मार्ग है गोप का अक्रम इसका सच्चा मार्ग नहीं है अक्रम तो डाइवर्जन मार्ग है जब ये मार्ग ये मार्ग टूट जाता है और मार्ग नुकसानदायक हो जाता है जब डाइवर्जन मार्ग को होता है फिर वो मार्ग पूरा अच्छा हो जाएगा फिर डाइवर्जन बंद हो जाता है सड़क पूरी बनने के बाद डाइवर्सन की जरूरत नहीं है वो डाइवर्जन मार्ग है खाली अक्रम એટલે ક્રમ નહીં ક્રમિક એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ક્રમિક માર્ગ हाँ। Step by step step by step step by step આગળ ચલે જાઓ મોક્ષ તરફ અને અક્રમ એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ની लिफ्ट मार्ग ज्ञानी उसकी लिफ्ट में बैठ गया और दूसरा कुछ क्रम बहु उसमें अक्रम दूसरे ज्ञानी की लिस्ट में बैठ कर कहीं किसी ने ज्ञान पाया आज तक ये कहता है तो कहते हैं दूसरे ज्ञानी की लिफ्ट में बैठ के कभी किसी ने ज्ञान पाया है आज तक બીજાની લિસ્ટમાં બેસીને આજ સુધી કોઈને જ્ઞાન થયું છે वो क्यों नहीं हो रहा है वो भरत राजा को हुआ था ना भरत राजा को हुआ था वो अक्रम नहीं था वो क्रम नहीं था हाँ हाँ कारण को औरतों के साथ और लड़ाई लड़ने के साथ तो था नहीं तो क्रम में ऐसा नहीं होता है क्रम में इनका अक्रम ज्ञान के संबंधों के असोचा ही सारे अक्रम ज्ञान के और हाँ साहब क्रम में ऐसा नहीं होता है क्रम में तो क्रमिक पूरा होना चाहिए और स्थिति से जुदा होना चाहिए स्थिति के अर्थात वो नहीं चलेगा क्रम में क्या बोलता है कि नौमा गुण स्थान आगे नहीं जाता है स्त्री के साथ बोलकर आगे नहीं जाता है पर वो अधम है कुछ कुछ जो रास्ता बिल्कुल जुदा ही हो जाता है बिल्कुल जुदा ये प्रकृति से बिल्कुल जुदा दो प्रकार के केवली अहंकार अहंकार जहाँ इधर खराब हो जाता है जिधर कम बन जाता बंद हो जाता है कर्म भी बन जाता है कोई इधर हटते धंधा करते खाना खाता है पर धर्म कर्म बन जाता नहीं होता एक एक एक अवतार का बन जाता है हमारी आज्ञा पास से रहता अच्छा है पांच आज्ञा दिया है अच्छा। वो निरंतर पास है अच्छा। चौबीस कलाक निरंतर ऐसा बीस हजार है हाँ, क्या पांच आज्ञा ज्ञान के निरंतर चौबीस कलाक हाँ। पांच आज्ञा हमारी पास है तो कर्म कर्म जिम्मेदारी हमारी इनके लिए क्या पांच आज्ञा आज्ञा है पांच आज्ञा क्या है वो ज्ञान ये आपकी हम बताएगा मगर आज जरूर आपने हेल्प नहीं करे आज कुछ हाँ। हम आज्ञा क्या बताता है हम धीरे से कुछ देता है इसको क्या देता है हम्म। धीरे चक्र तो।, हम्म, हम्म। तो आपका खुद खुद का आत्मा भी इसको दिखाने में आता है दर्शन में आता है और दूसरा भी आत्मा भी दर्शन में आता है आप कोई कोई चीज आत्मा के साथ गधा देख बैठे कुछ आपके अंदर सब सब के अंदर वो सब देख देख सकता है आपका हाँ। आपको भी देख सकता है आपका आत्मा देख सकता है हम्म। तो ये आंख से आपको देखता है हम्म। और ये आपको इसे तो लोग दो हम ये आज्ञा देता है कि तुम्हारी ऐसी देखेगा आप सुनते हैं हाँ। दो आज्ञा के लिए हाँ, ये प्रज्ञा का काम है इंट्यूशन का ये प्रज्ञा का काम है प्रज्ञा प्रज्ञा बुद्धि से आगे वो सबको प्रज्ञा ही हो गई हाँ जहाँ तक बुद्धि की सीमा में है हाँ, तो ये आप काम हाँ, हाँ, और बुद्धि की सीमा से परे प्रज्ञा की सीमा में चला जाता है रिश्तेदार आदमी को हमने बोला है कि एक चिंता था तो हमारे पास और चिंता भी नहीं वो तो कहती है समाधि तो समाधि रहना चाहिए निरंतर समाधि हम्म। और औरत के साथ लड़के के साथ कोई भी कोई भी स्टेट में समाधि रहना चाहिए अभिज्ञान चौबीस तीस वाला विज्ञान मेरा विज्ञान है मैं तो उसका निमित्त हूँ हाँ। तो विज्ञान मेरा नहीं चौबीस तीस भगवान का मैं तो उसका निमित्त हूँ खाली वो सब लोग क्या बोलता है क्या अपना मार्ग दादा भगवान का चले नहीं महावीर भगवान का शासन बचता है क्या बचता है महावीर भगवान का और हम इसका तलक है हाँ, हाँ। आपने ये कैसे समझा आपने कैसे प्रस्ताव कोई ऐसे प्रकट हुआ हमने कुछ किया नहीं तो कैसे तो गया कुछ नहीं हुआ बैठा हाँ। और जो करके बैठा मैं हाँ। साढ़े पाँच बजे हाँ। तो सूर्य का दिन पे स्टेशन पे ट्रेन में तो किया साढ़े पाँच बजे उतर गया छह बजे तो छह बजे बैठा वो चालू हो गया बाकड़ा में लेकिन ये जो आपकी भाषा है ये जैसे सारी भाषा बाद में ही हुई या पहले भी आपकी ये संस्कार थी आपकी ये जो भाषा हुई ये बाद में हुई कि पहले आपको ये संस्कार थे या ये सारी गुजरात की भाषा है गुजरात की भाषा जो निकली ये पहला था संस्कार से आज पची था पहला संस्कार था पर इगोइजम वाला संस्कार था वाणी थी अच्छा तो इगोइजम पहले ना हाँ यूरो के साथ था तो, बिल्कुल क्या करेगा उसका सिर टूट जाता है खाना आता है तो नहीं करता हम्म। अभी से खराब हो गया वो वो भी ज्ञान हो गया वो खराब हो गया ममता भी खराब हो गई हम्म। सब दुनिया कैसी चल रही है वो भी देखा भगवान कौन है देखा किससे बनाया कैसे चलता है किस धर्म से चलता है में क्या है राइट में क्या है सब देखा और सब दुनिया कैसी भूल रही है तो रॉन्ग मिनिट से भूल रही है सभी रॉन्ग मिल जाए हाँ तो, कोई भी जात की मिली रॉन्ग ही है तो ये महावीर की भाषा सब प्रगति है એ મહાવીર की भाषा तब प्रगटी એ વખતે મહાવીર ની भाषा प्रकट થઈ बस ये- ये वही clear है बस। ये हम क्या पूछता है इसे क्या, क्या नाम थे डॉक्टर भाई જેઠાભાઈ देखा लो खरेखर ખરેખર જેઠાજી છો તમારું નામ જેઠાભાઈ તમે જેઠાભાઈ છો શરીર આ શરીર ને લોકો ભાઈ કે છે છે તમે તમે બતાવી પડ્યા છો લોકોને ઓળખવાનું જે સાધન જે સાધુ તે તમે દબાઈ પડે ફર્સ્ટ રોંગ બિલીફ તમને રોંગ બિલીફ છે તમે જે કોઈ જાણતા નથી અને નથી તેનો આરોપ કરો છો that is the first wrong belief અને પછી આ બાજુ ઘણી તો બીજી રોંગ બિલીફ ભૂલ ગઈ ત્રીજી રોંગ બિલીફ હું પચાસ વર્ષનો ચોથી wrong belief, હું ઘોડો છું પાંચી wrong belief, હું મામો છું કુવો છું કેટલી wrong belief હો બેઠી છે. ये नामकरण की सारी प्रकृतियां ही आरोपित है ये नामकरण की सारी प्रकृतियां नाम कर्म आरोप नहीं कर्म नहीं कर्म नहीं नाम कर्म नहीं करण, करण. अरे कर्म हाँ। એટલે નામ કર્મ की सारी प्रकृतियां आरोपी थी है बस, तो फिर ये- ये जो wrong belief तत्व है वो wrong belief ज्ञानी पुरुष क्या करता है wrong belief को फ्रैक्चर कर देता है पर राइट बिलीफ बैठा दे रहा है राइट बिलीफ राइट बिलीफ जिसको समय दर्शन होता वो बैठा देगा आप ये ये नहीं यही तो भेद विज्ञान है कर्म के भीतर अकर्म को देखना यही वेद विज्ञान है कर्म के भीतर अकर्म को देखना अपम्मा जान ही अपम्मा जान ही पाठ रही अकर्म जानता है देखता ये दुनिया में कोई आदमी मार खाने को पसंद करता है हाँ? कोई पसंद नहीं करता कोई आदमी नहीं करते हमारे यहाँ बीस हजार आदमी मार खाने से उसको समाधि होती है हम्म, हम्म। ज्यादा समाधि समाधि में रहता है मगर बात खाने से ज्यादा समाधि कैसे कैसे मार खाते हैं हाँ। कैसे मार खाते हैं क्या है આ ભગવાન જોઈ શિક્ષકો મોક્ષ છે અને મોક્ષ મળ્યા પછી શું દુખાય છે કોઈ દુખાય નહીં તું તો ક્યાં લગા હે ક્યાં લગા તું सब ગમજારી એ લોકો सब ગમજારી મને नहीं, કાંઈ- क्या लगा એમ तुमको પૂછે છે તમને तुमको नहीं क्या तुमको नहीं उनसे पूछ रहा हाँ एमने पूछे थे कि तुमको क्या लगा है जब अभी मार खाई क्या लगा तुमको વાતચીત કરે ને સાહેબ જોડે. વાતચીત કરે हैं? શું વાત કરે हैं? बताओ बोलो क्या लगा એમાં સૌથી મોટા પેલું બોલવું પડે એમને કાયદો છે हाँ हाँ કારણ કે મોટો છે हाँ हाँ कौन बड़े વાતચીત કરે સાહેબ જોડે. क्या लगा શું તું પાછા નામ રહું છું કેટલો ઘર રહું છું નિરંતર નિરંતર તને ચિંતા ચિંતા કશું જ નહીં અને મારે તો કશું જ નહીં હા સંસારમાં રહું છું ને नहीं कष्ट हुआ નહીં કષ્ટ નહીં हुआ नहीं दो बात है देखो एक तो कष्ट होता है और हम सब भाव से सहन करते हैं <laughs> एक तो कष्ट होता है उसको सब भाव से सह लेते हैं और एक कष्ट का संवेदन नहीं होता दोनों में क्या स्थिति बनती है दो बातें अलग अलग एक तो कष्ट का संवेदन तो होता है पर बिल्कुल भाव में रह जाते हैं एक कष्ट का संवेदन भी नहीं होता क्या स्थिति बनती है बस हमारा संभव कुछ नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं लगता कष्ट का तो अनुभव होता है पर संभाव रख लेते एक तो यह स्थिति दूसरी है कि ऐसी स्थिति में आदमी चला जाता है कि जहाँ संवेदन ही समाप्त हो जाता है क्या स्थिति बनती है શું સાહેબ પૂછે છે? એને કહે ને? Feeling. પૂછે છે કે એક તો કચ્છનું સંવેદન થાય પણ એમાં પોતે સંભાવમાં રહે અને બીજું બીજી સ્થિતિ એવી કે જેમાં સંવેદન જ ના થાય તો કે તને શું રહેશે એને કોઈ મને સંભાવ રહેશે એને એમ કહ્યું કે મને સંભાવ રહેશે એટલે એમને કહ્યું બીજી સ્થિતિ એવી કે એમાં કષ્ટ ને સંવેદન જ ના થાય સંભાવ રાખવાની જરૂર ના રહે એવું સંવેદન જ ના થાય સંવેદન જ રહેશે સંભાવ રહેશે રાખવાનું પડશે સંવેદન જ રહે સંવેદન સંવેદન આપ શું કહેતા કષ્ટ નું સંવેદન એના વાત એના મીટરથી કહ્યું ને આપણે એમને તો એમ ખાતા <laughs> નથી આવડતું કોઈ વાત નહીં કહ્યું આ તો જ્ઞાની પુરુષના ખોળા બેઠા એટલે ભગવાન થઈ જાય લે हाँ આ आप कहिए સંવેદન आप ક્યાંથી આવડે એમને? પણ પોતે અનુભવ જીવન છે ये आप कहिए आप क्या कहें તમે કહો કે છે. તમે કહો એમ કે એ શું રહે એમ कि એ સંવેદન વિશે આપ કહો એમ કે ये कष्ट का संवेदन नहीं होता या कष्ट में संभाव रहता है બે વસ્તુ કહી એમણે એક તો કષ્ટમાં કષ્ટનું સંવેદન થાય કષ્ટનું સંવેદન થાય પણ એમાં સંભાવ રહે એક વાત અને એનાથી આગળની કષ્ટ નું સંવેદન જ ના હોય કષ્ટ નું સંવેદન જ નહીં એક પણ વીસ હજાર માં એક પણ માણસ ને કષ્ટ નું સંવેદન જ નહીં થાય સંવેદન જ રહે સંવેદન પર સંવેદન નહીં સંવેદન તો નહીં પર જૈસે કાંટા ચૂહા अब सांख्या छूटता है तो दर्द होता है क्या है दादा साहब दादाजी जो हमको ज्ञान देते हैं ना हाँ। तो आप आपने जो कहा ना कि दो परिस्थिति हाँ। होती है पर हाँ। एक परिणाम में कष्ट होता है लेकिन इसके प्रति संभव यानी उसके प्रति उसका उसका ये एक हथियार है एडजस्टमेंट रहा बीच में और दादाजी जो ज्ञान देते हैं उसके बाद जो हम हमारी स्थिति रहती है तो उसमें ये कोई दिखने का मीडियम ही नहीं है हाँ। डायरेक्ट ये अनुभूति रहती है कि जिसको कष्ट होता है हाँ। वो ये स्वरूप दिखाता है हाँ। और खुद ज्ञाता पद में रहता है यानी वो दोनों के बीच में अहंकार नहीं है अहंकार रहा तो उसको संभव रखना पड़ता है लेकिन यहाँ तो सीधा उठे है और खुद ज्ञाता है का नहीं होता है अहंकार की बात है जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ऑपरेशन करता है तो दर्दी को दर्द तो होता है पीड़ा तो होती है पर कुछ लोग ऐसे हैं कि ध्यान में चले जाते हैं और उसे कम भाव से छोड़िए और अनस्थेसिया का प्रयोग कर दिया तो संवेदन भी नहीं दो स्थितियां बनती हमारी चेतना की हो तो एक तो वह स्थिति बन जाए तो जिसमें अनस्थेसिया की तरह ऐसी स्थिति के संवेदन शून्यता आ जाए जहाँ संवेदन ही नहीं आपका सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हाँ। बॉडी को भी इफेक्ट न हो हाँ हाँ नहीं वो थ्योरी वो जो थ्योरी है बॉडी को इफेक्ट नहीं हाँ। शरीर में ये अनुभूति हो कभी कुछ हाँ, लग हाँ। रहा कुछ लग रहा पर हाँ। ध्यान नहीं ज्ञान ज्ञान तो पूरा होगा ज्ञान में तो पूरा आएगा हाँ। लेकिन उसकी असर खुद को नहीं होती जो जिसको होता है वो खुद नहीं है वो स्वरूप मेरा नहीं है हाँ। और जो और खुद का स्वरूप जो है वो दोनों अलग विज्ञान तो ठीक है वेद विज्ञान विज्ञान से ही अलग रहता है हाँ, वेद विज्ञान से तो अलग रह सकता है हम्म, पर मैं समझता हूँ इसमें संभाव भी प्रधान होता है संभाव जो आप कहते हैं ना हाँ। उसे भी आगे की स्थिति दी तो ये अभ्यास कराया जाता है कुछ दिनों तक नहीं नहीं वो जो ज्ञान देते एक घंटे का प्रयोग है एक घंटे एक घंटे तक लगातार एक देते हैं नहीं नहीं नहीं वो जो ज्ञान विधि देते हैं ज्ञान वेद विज्ञान देते हैं हाँ, हाँ। उस वक्त ये खुद तुम्हारा खुद का स्वरूप क्या है हाँ। और ये बाकी का जो अनात्म विभाग है उसका हर एक परमाणु परमाणु बेहतर अलग है वो अलग बता देते आप ज्ञान विधि सूचे ज्ञान विधि सूचे पूछे ज्ञान विधि सूचे ये पूछे थे ज्ञान विधि तो સેપરેશન ભૂગલ અને આત્માનું ચેતન શુદ્ધ ચેતન સિદ્ધાંત ભૂગલ સેપરેશન બોલવાની જરૂર છે થોડા પ્રયોગ કરીને બતાવશો એ તો તમે આપ એ પ્રયોગશાળામાં આવશે બધા પ્રયોગ કરી નાખીશું આપણે नहीं नहीं कोई आपसे जैसे आपको कराया है कैसे कराया वो लेबोरेटरी में आएगा तब ये એની प्रयोग પ્રયોગશાળા સિવાય પ્રયોગ होगा નથી. विदाउट लेबोरेटरी नहीं होगा એનું ટાઈમ છે टाइम ટાઈમ लगती है ना नहीं, समय। अभी अभी नहीं, अभी प्रयोग नहीं करते। नहीं नहीं अभी प्रयोग से नहीं प्रयोग कैसे करा देना सिर्फ એટલે इतना। શું समय है તમારે हमारा साहब कि जो प्रयोग करते हैं ज्ञान की विधि होती है આપના બધા શિષ્યો છે એમાંથી બે જણ મારી પર મોકલો हाँ કે ભાઈ તમે આ પ્રયોગ કરીને પાછા આવજો તો પ્રયોગ કરી આપો પછી અમે તમે અહીંયા આગળ સ્વ સંવેદન જ્ઞાન વધશે તમને પોતે કહે છે કે આ પ્રમાણે થયું हम्म, એક્ચ્યુઅલ પોતાનું ये અને अकालिक તો विधि લાઈટ का બનશે प्रयोग લાઈટ માંથી લાઈટ થાય બાકી લાઈટ વગર લાઈટ ન થાય એક લાઈટ માંથી બીજી લાઈટ હોય હોય વગર અંધારામાં એની મેળે લાઈટ નહીં થાય લિમિટ જોશે લિમિટ नहीं, मैं पूछ सकता हूँ मैं जैसे आपने किया होगा हैं? आपने किया आपने तो एक बार के प्रयोग के बाद आपकी क्या स्थिति बनी एक हाँ, ही बार करते हैं एक घंटा हाँ, तो नहीं तो जैसा हमने देखा उस पत्रिका में राजेश्याम जी लाए थे उसमें मैं देखा तो उसमें वैसा भी जो यहाँ हाँ, वो तो समर्पण विधि है वह यह नहीं हाँ वो ज्ञान विधि नहीं है अच्छा वो समर्पण विधि है ज्ञान विधि स्पेशल दिवस में हाँ। दादा जी अपना ज्ञान का जो सेपरेशन बनने का है तीसरे हाँ। दिन में ऐसा करते हैं अच्छा। स्पेशल समय के हाँ, अच्छा। एक साथ में आपने जो बताया ना ज्ञान के पहले समर्पण विधि करते हैं वक्त आचार्य अनिरुद्ध को उपासना का बताए और अपना सब भी मन वचन काया सब कर्म सब उनके ज्ञान के चरण में अर्पण करते हैं और अपने पास सिर्फ अपना केवल शुद्ध आत्मा रहता है और फिर जी ज्ञान बताते हैं उन्हें बोलते हैं हमें सिर्फ रिपीट करना रहता है वो जो जो भी कुछ बोलते हैं हाँ सिर्फ वो स्वयं निकलती है एक एक एक ये देह के पुद्गल का एक एक परमाणु क्या किस तरह अलग है हमसे हाँ। वो सब विवरण करके बताते हैं हाँ। और वो वो शब्द वो ज्ञान नहीं है हाँ। लेकिन हमारे में जो प्रकट होता है वो ज्ञान है और वो जो प्रकट होता है उसकी महत्वता क्या है तो मतलब पहले समर्पण लीजिए फिर ज्ञान लीजिए दोनों क्रम चलते दोनों अलग नहीं होता नहीं पहले समर्पण और फिर ज्ञान समर्पण यानी क्या है कि हमारे सब कर्मों का समर्पण है हाँ। और आत्मा तो अपने पास रहता ही है उसको बस तो है, और वो कहाँ समर्पण जाता है? वो नहीं ले वो समर्पण यानी वो कुछ ले भी नहीं लेते हे तत्वाले हे हे કરીએ છે હે તત્વાલે હે કરીએ છે ઉપાધિ उपाधि उपाधि हम्म, जो ઉપાધિ ज्ञान- એના તત્વ ઉપાધિ થઈ જાય છે હે હે થઈ જાય છે પુણ્ય પાપ હે થઈ જાય છે અને જે અનંત અવતાર ભરેલો પુણ્ય પાપ નો દરિયો છે જ્ઞાનાગ્નિથી ભસ્મ થઈ જાય છે નહીં મિલ જાતા હૈ ઉપાદેય કુછ હૈ નહીં હમારે લીએ ઉપાદેય તો ફીટ હૈ એમ કે ધ્યેય મટી જાય પછી ઉપાદેય કશું રહેતું નથી ઉપાદેય તો આપણી અંદર જ છે ઉપાદેય તો સહી નહીં એના કુછ નહીં આવે ઉપાદાન પોતે જ છે પોતે જ છે ફક્ત નિમિત્ત છેલ્લામાં છેલ્લું નિમિત્ત ઉપાદાન નહીં જોયું અરે સુરત આવે ઠીક છે था वे। ठीक है बेन? नहीं इनको बता रहे हैं कि वे जो प्रयोग किया था अभी कष्ट सहन का नहीं देखा ये बात भी आ गई। हाँ अभी बात है ठीक है તો પેલો માર્યું ને તે ઘડીએ બેન આ તમે લોકો હતા કે ના અમે નતા हाँ। પેલો માર્યું ને બૂટ માર્યો ને એ વખતે આ લોકો તમે જોયું એમ પૂછે છે તો કે ના અમે નતા પસંદ છે કે? हाँ ના આ આ લોકો પછી આવ્યા. આ લોકો પછી આવ્યા આ બધા પછી આવ્યા હતા એમને સમજવાનું છે આ બધું એ લોકો તૈયાર તૈયાર થાય છે ને બહાર પરદેશ જવાના માટે તૈયારી થાય નથી એમને એટલું ટ્રેનિંગ મળે છે બધું એ સમજાય એક या लोग आते हैं તે માર ખાને. એટલે અમે અંદર જોવાનું છે લોગ માર થી ભાગી જાય ને અહીંયા માર ખાવા આવે છે मार खा रहा मार खाने को हमको बॉस बोलता है हमारा हाथ उठता है ये उल्टी बात है ना कि अपने कहते हैं कि संसार से अपूठा ने मोक्ष से थामा हाँ बताओ એ કે છે આ આ જુદી જ વાત છે ને સંસાર થી અપૂઠા અને મોક્ષ ની આગે वो तीर्थंकर की बात है मेरी बात कुछ नहीं हाँ, हाँ। मैं इस हिंदी में छो खाली हमको लोग दादा भगवान बोलता मैं ना बोलता हूँ मैं दादा भगवान हूँ मैं ज्ञानी बोलतू आप दुनिया में कोई भी शास्त्री कोई भी वक्त आप पूछो तो इनका जवाब द्रव एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो किसी वेदांत तो हो कि झेरी जग हो चाहे रवियोग हो कि चाहे वेदांत हो कोई भी मुस्लिम हो तो अमेरिका में सब ये लोग भी मिलता था क्राइस्ट का सब हम्म, सब जगह आत्मा का आनंद ज्ञानी ज्ञान ज्ञान है फिर नहीं होता वेदांत का मुख्य दर्शन का अमेरिका का और हिंदुस्तान का ये ये लोग है नहीं चिंता क्यों नहीं होती ये भविष्य को हमें देखने की कोई जरूरत ही नहीं वो वर्तमान में ही रहता है भविष्य में कभी नहीं गया का भी नहीं गया नहीं भविष्य में गए नहीं वर्तमान अभी इधर है तो इधर ही घर को नहीं और घर को जाएगा इधर तो ये बिल्कुल ठीक बात है तो वर्तमान तो वर्तमान में रहता है बिल्कुल वर्तमान में रहना ही प्रेक्षा है वास्तव में अतीत और भविष्य से कटकर केवल वर्तमान में जीना हम्म। इसमें समझ में आई आपको आनंद हुआ नहीं खड़ा भी लगेगा <laughs> नहीं यह प्रयोग है कि वे भीतर में आत्मानुभूति में रहे हम बत्तख में हाँ। है रक्षक है ऐसा बत्तख की बात किया करता है भीतर में रक्षक बाहर में भक्षक भक्षक की बाबत क्रिया लगता करता है सही है व्यवहार में तो ऐसा लगता है कि आप चोट कर रहे हैं जैसे अपने कहते हैं कि जो गुरु होता है है उसने गुरु होता है वह कुम्हार की तरह होता है तो कुम्हार घड़ा बनाता है बाहर से जोड़ देता है भीतर में सुरक्षा करता है ठीक है એટલે એવું કહેવાય છે કે ગુરુ જે છે એ કુંભાર જેવા હોય એટલે બહાર બનતા હૈ કભી ઘડા બને કે ત્યારે બને આકાર થાય ત્યારે જ બને એટલે એટલે કહે કઈ ગયો ભરત અહીંયા હવે જાઓ. અમે જાઓ ને ભરતભાઈ અમે. ये भारत भाई है यहाँ ब्रह्मचारी है हाँ। तो दादा के साथ रहते हैं दादा की सेवा करते हैं और सब चीज का अनुभव किया हुआ है अच्छा वो इंजीनियर था हाँ। पंद्रह फीस में पगार मिलता था हाँ तो उसको हमको एक थोड़ा मिला तो फिर इनका भाभी को बोल दिया कि हम हमारी सर्विस दे रही है हम दादा के पास आएंगे हम्म, मैंने बोला कि इधर क्या गुस्सा में हमको गुस्सा में हम्म। तो बोले मुझे आप बाहर बिठा दो इधर भी बिठा दो आपकी नदी में बिठा दो कभी सर्विस करो कुछ करो और लग्न करो बाहर तक में को मन पाएंगे हम्म। तो ब्रह्मचारी कैसे रहेगा आप हम्म। ब्रह्मचारी रहना ये सही बात नहीं तो आपसे कृपा करो तो हमको ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य के लिए हमने किया फिर इनको एक बुद्धि की इतना भी बुद्धि नहीं है पर इनको ये मानता था कि सर्वभूत सब मूर्ख आदमी है वो ऐसा मानता था क्या मानता था सबको मूर्ख आदमी है मैं तो बुद्धि के खतरों को जानता हूँ ये कैसे मैं बुद्धि के खतरों को जानता हूँ दोनों दोनों दोनों जीवन मैंने जिए है बुद्धि का साहित्य का जीवन भी बहुत जिया है अब मैं दूसरा जीवन भी जी रहा हूँ दोनों को जानता हूँ दोनों जीवन मैंने जिए है बुद्धि के साहित्य का जीवन भी मैंने जाना है और ये भी एक्चुअल अनुभव आते हैं आपको बड़ा अनुभव पूरा हुआ है नहीं तो इतनी बात हमारे साथ किसी वो सब आचार्य लोग नहीं कर सकता है हाँ। जो अनुभव होना चाहिए अपने को खुद का अनुभव होने से बात कर सकता है मैं ये मानता हूँ की शायद मैंने पढ़ा बहुत कम लोग जीवन में पढ़ते हूँ हाँ। जितने विषय पढ़े ये भी मानता हूँ और प्रज्ञा का मूल्य उससे कितना ज्यादा है उसका मुझे अनुभव फिर एक दफे हमको ऐसा बोला हाँ कि दादा आप सस्ता क्यों करता है हाँ मैंने समझा कि यह आदमी का मदद कैसा है <laughs> मेरे को ऊपर बोले इतना हर हर्ष नहीं पर उनका क्या हो जाएगा हाँ। मेरे को तुम गाड़ी दो मेरे को नहीं मगर तुम्हारा क्या हो जाएगा इसलिए हमको तकलीफ है हाँ। हमारा हमको हमारे लिए तकलीफ नहीं है तुम्हारे फर्क नहीं पड़ेगा तो मैंने बोल दिया कि तुम बोलता है दादा आप हाँ। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे जो इधर रहने का हो तो तुम्हारी तुम्हारी सब लॉ बुक है फेंक दो एक लॉ में सस्ता नहीं है हम्म। तो तीन महीने के बाद लॉ बुक फेंक दिया फिर बुद्धि की बात बोल दिया कि एक सेंट भी बुद्धि तुम्हारी बात तो औसारिक नहीं है धार्मिक तो नहीं है आध्यात्मिक तो नहीं है पर संसारिक ही नहीं है तो इसको त्याग दो तो फिर भी मेरी साथ बदला किया बदला किया हाँ। ऐसा आदमी सच्चा होता है सच्चा और बदला बदला को होता है हाँ। हम समझ गए बिल्कुल सच्चा आदमी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको पैसे की मिलता नहीं वो हाँ। नहीं मिलता औरत की मिलता नहीं पैसे की मिलता नहीं ऐसा आदमी कहा मिलेगा बदला हम मैंने बता दिया तुम कुछ भी नहीं है जीरो फिर इनकी मेरी जीरो हो गई जब इसकी आबादी बल्ला समाप्त हो गया इसकी आबादी शुरू हो गई इसके नाम लिया मैंने वो जीरो એટલે ये सब क्या बोलता है हम्म, कि भाई नहीं आए जय जय ये और इसका फादर हाँ, दोनों हमको बॉक्सिंग करते लड़ते अच्छा, जरूरत हाँ, मैंने बोल दिया कि क्या चीज है तो वही क्या बता था कि मेरा फादर का दोस्त था फादर बड़ा आदमी है साठ पासठ आदत का वो बोलता है कि लड़का का वो इतना इतना अवसर की ये एक आठ हो गई है गंती पड़ गई तो फिर हमको बोल दिया क्या पूछ करके गंती निकाल दो तो हमने बोल दिया क्यों नहीं आस्ते आस्ते निकालो हम कैसी करेगा ये दोनों बोलने लगा था हमने एक घंटे में गर्मी का तोड़ दिया हम्म। फिर दोनों को कुछ नहीं बताया हम्म। ज्ञानी पास बीच में इतना इतना बल रहता है कि सब कुछ हो जाता है वचन बल होता है वचन बल हम्म, मनोबल वचन बल काय बल तीनों होते हमारे काय बल तो नहीं है पर मनोबल वचन बल ये ब्रह्मांड की ताकत की बल है नहीं काय बल से मतलब चर्बी वाला नहीं है काय बल ये चर्बी वालों का काय बल नहीं होता काय बल होता है कि जिसके हर सेल में प्राण शक्ति सक्रिय हो जाती है तो अभी अभी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो सबको ये हाँ। सबका इसको सबको आगे में है अच्छा राधे जी आगे दिल्ली से हाँ। पहुँचे हो विष्णु भाई आगे विष्णु भाई भी आगे हाँ, अच्छा आगे इधर इधर हाँ इधर आगे पाठक हाँ विष्णु पाठक हम छोटा बोली अपने हाँ, पूरा आपका परिवार आ गया बस थोड़ा बहुत आज बहुत अरे कम आया पूरे से है मतलब ये नहीं है हाँ, संख्या में मत ठीक है। गुणात्मक लोग हाँ क्वालिटी क्वालिटी કે બધો આપણો પરિવાર આવી ગયો છે એમ કે हम्म। आप इनके ऐसी बात के सबके तो परिवार बने कोई चीज मेरी भी है अभी कोई ले ले हाँ। तो हरकत नहीं नहीं ले ले तो भी हरकत नहीं सब कपड़ा वपड़ा ले तो हरकत नहीं ले ले तो भी हरकत नहीं ऐसा है नहीं कि ले लो हम्म। अच्छी बात मेरी कुछ चीज नहीं मैं हम उनका कुछ निरंतर जाने को भी लेवट भी रखनी पड़ती है ये आश्चर्य <laughs> ठीक है जी, thank you. हाँ, लेबोरेटरी ज्ञानी को निरंतर लेबोरेटरी में ये कराना पड़ता है हाँ ये आश्चर्य लगता है क्या? नहीं नहीं जब निरंतर ज्ञानी जो निरंतर ज्ञानी है उसको लेबोरेटरी होते हैं એટલે તો આપણે જ્ઞાન વિધિ ની વાત કરી ને અહીંયા પણ કે અહીંયા આની લેબોરેટરી માં અપાય તો કે છે કે જ્ઞાની ને જેને નિરંતર લેબોરેટરી હોય એને આ લેબોરેટરી માં કા- કરવું પડે પ્રયોગ એ જાણીને આશ્ચર્ય થયું એમ. શું કરવું પડે પેલો પ્રયોગ તમે કહ્યું ને લેબોરેટરી માં થશે અહીંયા નહીં થાય તો કે એ જાણીને આશ્ચર્ય થાય છે ऐसे आश्चर्य नहीं है। लेबोरेटरी जैसा आश्रम में मालूम मालूम हो है सकता है आप है मुझे का असर है हमारा खाना नहीं खो जाए खाएगा हम्म। आप नहीं खाएगा नहीं? हाँ? और पहला खाता है ऐसे खुद ही नियम होता है नियम देश और काल का भी योग होता है ठीक है देश और काल देश और काल का भी योग होता है हाँ, तो तो नियम बिना नहीं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों निमित्त होने चाहिए अभी कोई आदमी अगर सो जाए कितना खड़ा दिखाता है और आपके नहीं सो जाए तो भी खड़ा दिखाता ऐसा हम्म, तो कुछ नियम होना चाहिए हाँ आपको देख लेगा आपका आशीर्वाद भी है हमको <laughs> नहीं ये सबको ठीक है ठीक है जैसे दर्शनावरणीय कर्म निरंतर उदय में रहता है पर नींद का निमित्त रात को बनता है ज्यादा બરાબર છે જેમ દર્શનાવરણ નું કર્મ નિરંતર હોય જ પણ રાત્રે એનું વિશેષ હોય हाँ, प्रभाव निमित्त પ્રભાવ रात એનો को बनता વધારે है હોય इसीलिए हर बात को द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस चतुष्टयी के साथ ही हो सकती है शायद कोई भी कार्य होने के पहले उसकी टाइमिंग क्षेत्र काल टाइमिंग स्पेस बीजा कितना साइंटिफिक सेटअप से एविडेंस जगह થાય तो उससे कार्य होता है नहीं कार्य नहीं होता है अपना अपनी खुद की मर्जी से कार्य नहीं होता है वो टाइमिंग सब सेटअप से एविडेंस जगह हो जाता है तब कार्य का होता है सिद्ध शिला सिद्ध शिला में जाकर बैठता है तत्काल केवल ज्ञान होने की सुविधा हो जाती है अगर स्थान नहीं मिलता है तो नहीं होती लंबा समय लग जाता है એટલે સિદ્ધ શિલામાં જવાના સ્થાનનું એ એ ના થાય ને ટાઈમિંગ ના મળે તો કે છે કે કેવળ જ્ઞાન થયા પછી લંબાય છે કામ नहीं सिद्ध शिला एक हमारे यहाँ मनुष्य लोग हैं। મનુષ્ય લોકો हाँ, उसमें जाने वाले को केवल ज्ञान की बहुत जल्दी सुविधा हो जाए वो अनाड़ी देश में चले गए ના એ કે જે સિદ્ધ શિલા જે આપણા પૃથ્વી પર સ્થાન છે ત્યાં જાય તો એને કેવળ જ્ઞાન થવાની સુવિધા વધારે થઈ જાય છે हाँ भाई क्षेत्र का प्रभाव ક્ષેત્રનો પ્રભાવ क्षेत्र का प्रभाव काल का प्रभाव दृश्य का प्रभाव भगवान को भी आगे देखने से करके अनाड़ी में देश में जाना पड़ता था अनार्य हाँ। अनाड़ी देश में जाना पड़ता ऐसे कुछ न कुछ होना चाहिए आपको संतोष नहीं हुआ हमारे कभी संतोष हो जाएगा तो? नहीं ऐसे नहीं संतोष कह रहा है संतोष हमको तो आपके लिए संतोष है ऐसे कह रहा था कि जो कैसे भगवान है हाँ बोलो महावीर से तो उनको जब जो प्रश्न का उत्तर देना था जो विधि ध्येय थी उसके लिए कोई अलग ऐसे क्षेत्र का तो जैसे होगा होगा जो तो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका विशेष सामर्थ्य होता है जब हम शक्ति को अपने मानते हैं तो उस क्षेत्र को भी चला सकते होते हैं समय को भी पैदा कर सकते हैं वो कहते हैं भगवान महावीर वितरा बता મહાવીર વિતરાગ હતા એ એમને છે તો આવું જો હોય કે જે ટાઈમે જે ક્ષેત્રે થાય ત્યારે કરે તો પછી એનું સામર્થ્ય આવા પુરુષોનું કઈક સામર્થ્ય હોય કે જે ક્ષેત્રને ખેંચી લાવે કાળને ખેંચી લાવે नहीं वो महावीर में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं था नॉट अ सेंट सामर्थ्य हम्म, हम्म, ये नहीं होता है દસ લોગ રખ્યો લગ્ન દેશે. हमको भी सामर्थ्य नहीं बिल्कुल नहीं होता ही नहीं है देखो साहब हमको भी सामर्थ्य नहीं हाँ हम तो अपने पोता खुद का खुद का पोता बना नहीं है हमारा हम पोटले ले जाता है तो हमको अलगू ले जाता है नवो वितराग साहब के संतोष करने के लिए हमारे क्या बोलने की जरूरत है नहीं संतोष हो गया मैंने कह दिया ना आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ हाँ, हाँ। इसलिए संतोष તમારી વાતનું એમને સમર્થન કરું છે એટલે સંતોષ છે हाँ नहीं ये बिल्कुल ठीक बात है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को खींचना अपने किसी एक के बस की महावीर बात का ही छवि है अपने हाँ, महावीर का ही महावीर का छवि बिल्कुल है। ठीक। અહંકારી का काम हाँ, पर केवल ज्ञान का आराधक है अगर दर्शन केवल ज्ञान अगर का ऐसा होता और सच्चाई का अभाव करने के लिए सब जगह हो गया है नहीं अगर ऐसा होता तो महावीर सबसे पहले गौतम को केवली बना के ही जाते पर बने बाद में એવું જો હોત તો મહાવીર ગૌતમ ને સૌથી પહેલા કેવડી બનાવીને જાત પણ આ તો પછી થયા हाँ पतित है क्योंकि प्रशस्त राग था इनकी। हाँ प्रशस्त राग बहुत और ये सबको भी हमारी हमारी हाँ, हमारे साथ सब प्रशस्त राग है सबको तो मैंने बोल दिया भले रहने दो वो प्रशस्त हाँ, राग क्या काम कम से करता कम है प्रशस्त तो मत प्रशस्त करो राग क्या काम करता है संसार संसार का राग टूट जाता है और प्रशस्त बैठ जाता है इसलिए सबका प्रशस्त राग मेरे से है बस दूसरा कुछ नहीं। गौतम का महावीर के प्रति प्रशस्त राग था ठीक है ठीक ગૌતમ का महावीर के प्रति प्रशस्त राग प्रशस्त राग प्रशस्त। हाँ और बहुत छोड़ दिया उन्होंने पर जब तक महावीर रहे नहीं छोड़ सके हाँ महावीर गए समाप्त हो गया हाँ। और ये लोग का बिजनेस क्या है अभी हम्म, हम्म। उनकी समाधि हो गई चिंता मर गई और नहीं बड़ा अच्छा है नहीं जिससे मिलने वाला ये भी चौकस हो गया हाँ। मतलब अभी काम धंधा क्या है इसका बिजनेस क्या हाँ। तो इनका बिजनेस क्या है ये सबको जो सुख हमको मिला है ये सुख सबको मिलो ऐसा ही बिजनेस है दूसरा भी कोई बिजनेस नहीं और हिंदुस्तान में और जो इधर पुलिस समझता है हाँ, वहाँ विकास का धर्म खुला हो जाओ समझता है अच्छा उद्देश्य है अच्छा क्रम है यथार्थ धर्म अभी विचार धर्म यथार्थ नहीं है नहीं हमें तो इसीलिए प्रसन्नता हुई इधर गच्छ है यहाँ विकराग नहीं है वो बोलता है गच्छ वाला साधु हमारी बात मैंने एक बोलता है कि तुम्हारा शत्रु तुमने कैसा छत्र दिखा दिया तो आपको कैसा दिखता हो गया हमने हमारे गुरु काल में दिखा दिया है हाँ। ये कोई गत की दीक्षा है सच्ची दीक्षा नहीं है विकराट की दीक्षा है सच्ची दीक्षा है गत की दीक्षा एकांतिक दिखता है अनेकांति है हमने अनेकांत दीक्षा दिया है और जब तक भेद विज्ञान नहीं होता तो सम्यक दर्शन ही नहीं होता दीक्षा तो बात की बात है चरित्र बात की बात है वो नमस्कार मंत्र है नौकार मंत्र है हाँ तो एक एक आचार्य हमारे बोलता था कि नौकार मंत्र हम कितने आदमी को देता है जो फलित क्यों नहीं होता है मैंने बोल दिया तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हारे की समझ नहीं होगी तो फलित क्यों नहीं डॉक्टर डॉक्टर अच्छी तरह दवा देने वाला है और दर्दी अच्छा है फिर आज दर्दी को आराम होना चाहिए तो बोल दिया मैंने मैंने दवा भी अच्छी दिया है दर्दी भी अच्छा है क्यों नहीं होता है मैंने बोल दिया कि नमस्कार नमस्कार मंत्र कैसा बोलता है आप बता दो हमको हम्म। तो बोलने लगा हाँ। कि नमो वाली हंकार नमो सिद्धांत तो मैंने बोल दिया कि नमो सिद्धांत बरोबर है नमो નમો આયરિયાણું બરોબર नमो નમો ઉપજાયણ બરોબર નમો રોય સર્વથામ બરોબર નમો હરિહંતા बोलता है कई बार तो बोलने लगा લગા સ્વામી પીછે તો आप विचार करके बोलो स्वामी श्री तो सिद्ध हो गया नहीं है को कैसा बोल रहे हैं बहुत बड़ी भूल होती है तो पहले से भूल रही आखा पर ही भूल चल रही है मंत्र भूल नहीं होता तो फिर हमने बोलने लगा कि क्या हमारे करने का तो मैंने बताया कि श्रीमद स्वामी का अरिहंत मान लो इसलिए अभी अभी है अभी है समिंदर पानी इधर भी है मगर है आप समझ गए प्रत्यक्ष होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो उसके सिद्ध हो गया जो स्वाभाविक और किसी को अपने ये बोलना अरे बोलना ये आचार्य को आज भी बोलना चाहिए आज भी एक नहीं हाँ बीस तीर्थंकर तो विधर्मा और और भी ज्यादा हो सकते हैं એ કે છે અત્યારે વીસ તીર્થંકર એક નહીં પણ વીસ તીર્થંકર વિહારમાં છે नहीं वो भी सिद्ध की बात होती है और हिमंजन स्वामी की बात होती है हाँ हाँ वे भी है अपने ये भूमि विकास के लिए ये भारत भूमि के लिए हिमंत स्वामी की बात और है वो सबके लिए बात है हिमंत स्वामी का वो हम इनको सबको भलामण करता है किसी को स्वामी साल बोल नहीं आपको बन जाता है और हम तो हमारा कोई हमारा आश्रम कोई नहीं है हमारे लिए इतनी जगह भी नहीं है कोई क्योंकि हमारा आश्रम रखने वाला आदमी आपकी नहीं है हमारी भी नहीं है हमारी भी नहीं है हमारा लेकिन हमारा नहीं नहीं मेरा तो कुछ है ही नहीं नहीं हमारा भी कुछ भी सब लोग नहीं नहीं सब लोग बोलता था हाँ। कि आपके लिए आप कुछ मोटा बनाए आश्रम क्योंकि मेरे को आश्रम आश्रम की जरूर नहीं वो आश्रम में सब लोग आएगा फिर विश्राम करेगा वहाँ क्या करेगा सब अभी आज निकलता है ना निकलता में आश्रम में विश्राम करता है सब। आप समझ गए ना? सब लोग के नहीं है पर मगर कितना लोग तो ऐसे ही करता है आपके समझ में का એટલે हम कहीं मांगता ही આમ તો ઘાસ નીચે બેઠો સત્સંગ કરો फिर हमको एक संकेत हुआ कि सिमंदर स्वामी का मंदिर बनाओ और इनके साथ कृष्ण भगवान का मंदिर वासुदेव जो सला का पुरुष है इसका एक मंदिर बनाओ और इनके साथ नमस्ते का मंदिर बनाओ इतना ऐसा संकेत संकेत हमको मिला है तो इसलिए तैयारी हो गई ये तीनों रखे हैं आपने ठीक है मंत्र में भी तीनों रखे એટલે हैं મ- મંત્રમાં પણ ત્રણેય છે हाँ ये मंदिर है क्योंकि वो आचार्य मेरे मेरी मेरी ख्याल आया